वो वक्त याद करो जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था कि ये क्या मूर्तें हैं जिनके आगे तुम धरना दिए बैठे हो